मुख्य जो प्रयोजन था ईश्वर साक्षात्कार करना करवाना उससे वो नितांत भटक गए ये नहीं जानना चाहिए ये दोष उनका हमारे अंदर है आया ऐसे संतुलन के बिना व्यक्ति कभी सत्या सत्य को जान और सत्य को ग्रहण कर असत्य को छोड़ के अपने जीवन को उन्नत नहीं बना सकते कभी भी नहीं यदि एक दृष्टि हमने डाली कि उन लोगों में ये दोष है कि ईश्वर के स्वरूप को विपरीत उचित मान के चलते हैं इसलिए ये सारे लोग बहुत खराब हैं ये जो कुछ अच्छे कार्य करते हैं ये भी इनसे खराब ही है और इनके अच्छे कार्यों को कभी हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए ये ग्राही व्यक्ति का धर्म नहीं है होता प्राय ऐसा है कि उनके दोषों को देख करके किन्हीं दोषों को उनके गुणों से घृणा और उनके प्रति द्वेष की भावनाएं व्यक्ति जगा लेता वहीं पर नहीं आप अपने विद्यालय में या जिस परिवार में समाज में रहते उसमें भी यही स्थिति है उसका मापदंड इस प्रकार का व्यक्ति का कि वो जानता नहीं कि हमें समाज में परिवार में संस्थाओं में कैसे रहना अब परस्पर के व्यवहार में आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति में बहुत से गुण हैं अब वहां पर उसमें कुछ दोष भी सर्वज्ञ नहीं है व्यक्ति सर्वशक्ति मान भी नहीं है व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ न होगा आज भी नहीं है जिसमें दोष ना होते हों या है कोई ऐसा या होगा नहीं ऐसा क्या मान्यता आप नहीं होगा ये तो होगा ही नहीं तो उसमें जो गुण है उसको हम दोष मान के उसके गुणों को भी छोड़ दें और उसमें उन दोषों को देख के हम उसे द्वेष करने लग जाए ये बुद्धिमत्ता नहीं है ये व्यक्ति के नीचे गिरने का काल है ऊंचा उठने का नहीं पर एक सावधानी इसके साथ रहती है कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत से गुण है और कुछ दोष भी हैं तो वहां पर व्यक्ति परीक्षण करके ये नहीं करता कि इसके अंदर ये दोष है इनको मैं अपने अंदर न आने दूं इनसे मैं दूर रहूं उसके ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि ये इसके दोष भी गुण हैं एक व्यक्ति ने ये बात तो मानी कि इसका व्यवहार बहुत अच्छा है इसका चरित्र तो बहुत अच्छा है और इससे बहुत प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर ऐसा कहता है फिर कहता है कि इसकी दो तीन मान्यताएं ऐसी है जो युक्ति प्रमाण के विरुद्ध जाती है और उनको मन छोड़ सकता ये एक भाग व्यक्ति के सामने आता इसलिए ऋषियों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया यानी अस्माकम सुचरितानी तानी होया उपास्यानी नो इतरा ये सिद्धांत क्यों हो बचे ये इसी बात को जानने के लिए क्या होगा ना अपना निर्णय दे दिया जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं अच्छा चरित्र है अच्छा व्यवहार है उसको स्वीकार कर लेना हमारे अंदर जो दुर्गुण दोष व्यवहार की भूल कोई त्रुटि है उसको ग्रहण न करना ये तो ऋषि मान यदि आपको ऐसा नहीं बरतना आता व्यवहार में आप ऐसा बरत नहीं सकते समाज परिवार संस्था में तो निश्चित बात है कि आप अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते ये संभव बात है ही नहीं पक्षपात बुद्धि रहित व्यक्ति सत्यग्राही असत्य त्यागी व्यक्ति सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाया रखता है ईश्वर के साथ व्यवहार उसका कैसा है वह संतुलन है ईश्वर के प्रति उसकी भावनाएं उसके विचार उसकी उपासना उसका परिनिधान दैनिक जीवन में वो उसका संतुलित है तो ये व्यक्ति उन्नत हो जाएगा नहीं तो वो विशुद्ध उन्नति से जी काम करते वो नहीं हो सके जो माता जी आलस्य तो नहीं आ गया धीरे धीरे कभी सो जाओ आप इसको व्यक्ति आवश्यक नहीं मानता इसको उन्नति का कारण नहीं मानता कि परमात्मा के साथ मेरा जो व्यवहार है विचार उसकी आज्ञा का पालन उसकी उपासना दैनिक जीवन में मेरा संबंध है ईश्वर से कैसे होना चाहिए अब वो इसको कोई नहीं कुछ नहीं जानता भूला जैसा रहता तो परिणाम यह होगा कि ये व्यक्ति कभी विशुद्ध उन्नति जिसको हम बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति खुद से की व्यक्ति वो नहीं कर पाएगा देखेंगे पढ़े लिखे लोगों में भी अध्यापकों उपदेशकों में भी लेखकों में भी इस संबंध में साधारण विचार कहीं मिलते हैं थोड़ा बहुत ईश्वर का ध्यान कर लिया प्रातः काल कुछ ईश्वर का समन हो गया कभी फिर थोड़ा बहुत कर लिया उचित व्यवहार प्रमुख व्यवहार मान के करने वाला तो सौ विद्वानों में से एक नहीं मिलेगा इसी आधार से इसी कारण से पढ़े लिखे वर्ग उन विद्वानों का चरित्र सोचा हो या वो दुखों से छूट गए हो उनको आनंद मिलता हो ऐसी स्थिति उपलब्ध नहीं होगी नहीं हो फिर आगे ये परिणाम निकलता है वो दूसरे को ऐसा सिखा भी नहीं सकते उनके हृदय से भावना ये श्रद्धा ये उत्साह उठेगा ही नहीं कि हम इसको ये चीज सिखा दें व्यक्ति के अंदर जो उत्साह उभरता है अंतर व्यक्तिगत विचारधाराएं करती है उसके मन में ऐसा होता है कि इन सब लोगों को मैं ऐसा बना दूं वो जब उसका अनुभव करता है आनंद लेता है या दुख से छुटा होगा वो उसकी विचारधारा वैसी बनी होगी ईश्वर का प्रभाव तो पड़ा होगा तभी तो वो दूसरे विद्यार्थी को दूसरे व्यक्ति को किसी गृहस्थ को जहां जाएगा उसको वैसा बनाना चाहेगा दूसरे स्तर पर जब ऐसी इसकी अनुभूतियां नहीं है आचरण नहीं है तो ठीक है साधारण रूप में वो कुछ बातें सुना सकता है सिद्धांत को मान के कुछ बताएगा कुछ पढ़ाएगा कुछ लिखाएगा और मन में दूसरे व्यक्ति के अंदर ये चीज भर जाने में ये सारी मेरे अंदर जो है ये स्थिति नहीं आएगी इसलिए ईश्वर के साथ जो व्यवहार व्यक्ति का हो वह कैसा कैसा हो इसमें अनभिज्ञता आपकी नहीं है आप जानते हैं शब्दों या नहीं जानते जो विपरीत जानते हैं या नहीं जानते वो तो बहुत दूर है नहीं जानते और जो जानते हैं तो विपरीत जानते हैं ईश्वर से संबद्ध है बातों को अब आप आपकी स्थिति है ईश्वर से संबद्ध है बातों को व्यवहार को उसके साथ कैसे जुड़े हम उसके साथ संबद्ध रहने से हमको क्या लाभ होता है नए से क्या हानियां होती ये सब प्राय आप जानते समय पर उसको व्यवहार का रूप नहीं देखेगा स्वभाव ही नहीं बनाया व्यवहार करने देने का यदि उन्नत होना चाहता है अपने दोषों को दूर करना चाहता है क्लेशों से छूटना चाहता है ईश्वर साक्षात्कार करना चाहता है तो उसको ये व्यवहार इस रूप में करना ही पड़ेगा विकल्प नहीं एक दूसरी बात देखेंगे आप जीवात्मा अपने विषय में क्या जानता है और अपने साथ क्या व्यवहार करता है ये भी कम ही ध्यान में दिया जाता होगा कि भाई अपने विषय में भी क्या सोचना अपने विषय में क्या विचार करें अपने से उचित व्यवहार क्या करें और अपने आप से आत्मा से अनुचित व्यवहार क्या करते हैं क्या समझ में आया अरे क्या अनुचित ये कोई जानने की बात ये तो जानी हुई बात है पेशानी बात है अपने दुनिया हम सुख चाहते हैं सुख के साधन चाहते हैं चाहते ही रहते हैं और दुख को दूर करना चाहते हैं दुख के कारणों को दूर करना चाहते हैं क्या हमारे लिए क्या सोचना है वो ऐसा मानता है मुझे उनको तो ये पता नहीं है कि अपने विषय में स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जो कि उन्नति का कारण है और अपने साथ जो विपरीत व्यवहार हम करते हैं वो पतन का कारण है उससे कैसे बचना चाहिए ये कोई नहीं सोचा जाता विषय ज्ञान ही नहीं होगा आप एक उदाहरण ले रहे आपके मन में हमारे मन में काम क्रोध लोभ मो ये बुरे विचार उठते रहते या नहीं रहते कभी दुखी है हम कभी सुखी भी रहते हैं कभी अपने को शरीर मानते हैं कभी अपने को मन मानते हैं या नहीं होता है जी कभी अपने आप को शरीर मानते हैं आप कभी अपने आप को मन मानते हैं कभी अपने आप को बुद्धि मानते हैं कभी अपने आप को इंद्रिया मानते हैं हम ऐसा नहीं मानते क्या जब हम अपने आप को इस रूप में मानते तो व्यवहार भी हमारा ऐसा ही होगा अब और देखो ये काम करो तो लोग जो दुर्गण घातक है ये ऐसे हमारे साथ जुड़े रहते हैं ऐसा प्रतीत होता है ये हमारे अपने गुण हैं अब क्या समझ में आया आपको वो हमारे अपने स्वाभाविक गुण दिखाई देते हैं और जब स्वाभाविक गुण दिखाई देते हैं तो उनको दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा दूर हो ही नहीं और दूर करने भी नहीं चाहिए स्वाभाविक ही है वो प्रतिकूल क्यों और उसके लिए प्रयास क्यों किया जाए इसको दूर करो दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता और जिस व्यक्ति ये मानता है सोचता है ये दोष तो नैमित्तिक है प्रकृति के संबंध से उत्पन्न हुए हैं और इनको दूर किया जा सकता है इनको मैं उखाड़ के फेंक सकता हूं जब ऐसा सोचता है तो उनको दूर करने का उचित प्रयास करता प्रयास करते करते कालांतर में क्रोध को उखाड़ के फेंक देता वो देख सकता है कि अब वो क्रोध मेरे अंदर दिखाई नहीं दे रहा है इसी प्रकार से आचार्य विद्वान उपदेशक लेखक इसी प्रकार से अन्य संप्रदायों के लोग आगे बढ़े इसी प्रकार पशु पक्षी प्राणी आप ये देखेंगे कि कोई चीटी है कोई मकोड़ा है वो आपके पास आ गया नहीं आपने जब ऐसे मारा उसको आपने कभी सोचा ये मैं भी ऐसा बनता हूं ये भी ईश्वर का पुत्र ही तो है ये बेचारा कुछ जानता नहीं अज्ञान में ये मेरे पास आ गया इसको पता नहीं संविधान का नियम का किसके पास नहीं जाना चाहिए ऐसे भी कर सकते थे आप <laughs> ऐसे हमारा आधा तो मरा हो गया टूट गई टांग इसकी अब अब ये दूसरे प्राणियों के साथ वो व्यवहार ही नहीं करता आत्मवत तो पाठ पढ़ा इसने आत्मवत तो सर्वभूतेश पाठ तो खूब पढ़ा उपदेश भी खूब सुनाए और वो उस प्राणी को जब देखता है उस समय वो नहीं देख पाता ऐसा नहीं बर्ताव करता है अब देखो एक और हमने ईश्वर को समझा होगा तो हमने ये माना होगा कि मकौड़े चीटी आदि इसमें और हम में ईश्वर की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होगा या होगा जिस दृष्टि से ईश्वर हमको देखता है जानता और चाहता है ऐसे इस ईद पतंग आदि के विषय में या क्या जब हम ईश्वर को देखेंगे ईश्वर की आज्ञा को देखेंगे तो उस प्राणी से उसी वृत्ति से व्यवहार करेंगे आप जब हम ईश्वर के स्वभाव को आज्ञा को नहीं समझते उसके साथ संबद्ध होकर नहीं सोचते तो अन्य प्राणियों से हम ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे अब जब नहीं कर पाएंगे तो परिणाम निश्चित है सभी यम नियमों का पालन करके अपर वैरा पर वैरा जो आप पढ़ते हैं उसको प्राप्त हो समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकते कभी नहीं होगा इसलिए इन सभी क्षेत्रों में वस्तु के स्वरूप को जान के तो उसके साथ उचित व्यवहार करना अपने और दूसरे की उन्नति करना उचित व्यवहार से इसलिए ऋषियों का जो कथन है उपदेश है वो क्या है कभी सुना होगा या पढ़ा होगा उसका भाव क्या है पृथ्वी से लेकर के और परमेश्वर पर्यंत इन पदार्थों के स्वरूप को जानिए उनसे लाभ उठाना उचित उनका उपयोग करना अब जैसे उनसे अपने लिए उचित प्रयोग करना लाभ उठाना ऐसे अन्यों के लिए भी उनका प्रयोग करना बात तो छोटी सी दिखती है साधारण में पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक पदार्थों के स्वरूप को जान के उनसे उचित व्यवहार करके अपने जीवन को उन्नत करना ये कहां कहां पर कैसे कैसे व्यक्ति विचार करे कैसे उसका प्रयोग करे इसमें कितनी कठिनाई आती यदि ऐसा नहीं है तो यह भी निश्चित है कि व्यक्ति सफल भी नहीं ईश्वर से आत्माओं से अपने आप से पृथ्वी जलवायु दुनिया आकाश से इंद्रियों से मन से हमारा संबंध है उनके बीच में रहते हैं हम भी इनको ठीक जान के उचित व्यवहार नहीं करते तो अपनी उन्नति नहीं कर सकते अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए जैसे हम ज्ञान के लिए विद्या के लिए अच्छा पुरुषार्थ कर लेते हैं अच्छी योग्यता कर लेते हैं पर वो ज्ञान के अनुरूप व्यक्ति जो कर्म नहीं करता और जैसा ज्ञान के लिए पुरुषार्थ कर लेता है व्यक्ति वैसा कर्म के क्षेत्र में नहीं करता फिर आगे देखो जैसा सकाम कर्म के लिए प्रयास करता है व्यक्ति वैसे निष्काम कर्म के लिए प्रयास नहीं करता क्या समझ में आया आपको कुछ मिलेगा धन संपत्ति मिलेगी यश मिलेगा इत्यादि ऐसी स्थिति में तो आप दिन रात लगे रहेंगे अनेक कष्टों को सहते हुए लगे रहेंगे आप अब घरों में देखो परिवार में देखो माता पिता अपने पुत्र आदि के लिए क्या करते हैं क्यों माता जी छोटी सी अवस्था से लेके बच्चों को पालन पोषण करते उनके लिए व्यापार करते भवन बनाते फिर उनका विवाह करते आगे बढ़ो तो फिर उनके उनकी संतान होती फिर उनके विवाह की तैयारी करवाते और किसी से शिकायत नहीं करते कि मैं दुखी हूं कोई अगर संस्थाओं चला जाए तो कहीं गुरुकुल में आश्रम में जाए थोड़ा सा कष्ट आते ही वो वहां से भागेगा तो बहुत कष्ट है इतने दोष है यहां पर यहां नहीं रह सकता कोई और पचास वर्ष गए गधे की तरह भाग धोता रहे आपने आज संस्था की छोटी सी बात करता है तो कहता यहां तो बड़ा कष्ट है बहुत कष्ट है हम नहीं रहते ये प्रतिकूलता है ये प्रतिकूलता है वो दिन रात इसमें लगा रहे अब बताइए इसका क्या दिमाग है वहां अपना मानता रहा अपना मेरा है ये मुझे ये मिलेगा बात तो इसे पचास वर्ष जॉब दी किसी ने तीस इसको बीस और यहां एक वर्ष ये कोई छोटी सी सेवा नहीं कर सकता आप इनमें भी पीएचडी में लग जाते और वह कहते हैं प्रोफेसर बनेगा इंजीनियर बनेगा वैज्ञानिक बनेगा आप बीस वर्ष तीस वर्ष खपा देते दस लाख पांच लाख रुपया भी झोंक देते और देरी से चोटी तक का जोर लगाते फिर भी कहते ठीक है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा हो गया अब मुझे थोड़ी सी नौकरी वोकरी मिलने की बात आई ऐसा सोचेगा तो <laughs> अब यहां आकर के यदि कोई सेवा आपको करनी पड़ जाए उसका दसवां भाग भी करना पड़ जाए आप यहां से यहां से भाग जाएंगे आप यानी वाले इसके बदले तो में आपको फिर मिलता नहीं कुछ सेवा करनी पड़ जा पड़ती है तो आप नहीं कर पाए अब जानने की बात तो यह है यदि आप उस व्यक्ति की बाकी जो कि बड़ा वैज्ञानिक इंजीनियर प्रोफेसर बन गया पंद्रह बीस वर्ष खपा के दस लाख रुपए और उसने इतने वर्ष लगाए बौद्धिक शारीरिक परिश्रम किया आप यदि निष्काम क्रम ऐसा नहीं कर सकते तो समझ रखना आप कभी भी विवेकी विद्वान बन के समाधि में नहीं जा सकते तो क्या प्रसार करते हैं आप देख लो आप इतना परिश्रम आप निष्काम भावना से नहीं कर सकते जैसा वो करता तो आप समाधि की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाए अब आप तुलना तुलनात्मक ढेर कर लो कितना करते हो आप के साथ जोड़ो हम जो तन मन धन से मन वाणी शरीर से जो करते हैं उसके साथ ये भी जोड़ना एक तो ये मान के चलना ये मेरा शरीर मेरी बुद्धि मेरा मन विचार तन मन धन ये मेरा है और मैं कर रहा हूं एक स्थिति नहीं इसके साथ निष्काम कर्म की स्थिति जहां आएगी वहां ये शरीर बुद्धि बल विद्या धन ये ईश्वर प्रदत्त है ये मेरा नहीं है ऐसा जोड़ के करना पड़ेगा यदि अपना स्वस्वामी स्वामी संबंध जोड़ देते हैं तो फिर भी आप संकट में पड़ेंगे बच नहीं सकेंगे आप समाधि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे आप यदि ये उसके साथ जुड़ता है एक और भाग है ऐसी सेवा करते करते बड़े कष्ट होते हैं प्रश्न यह उन कष्टों के आने पर दुखी रहना दुखी हो जाना और फिर उस सेवा भाव को छोड़ देना ये स्थिति है यदि ऐसी स्थिति आती है तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे वर्तमान में स्थिति है लोगों की जैसा वो विचारते हैं सोचते हैं गुरुकुलों वाले की ले लो गुरुकुल में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं आदि आदि उपदेशक हैं उनको भी साथ जोड़ लो ये सभी जो कुछ करते करवाते हैं आजकल इनमें प्राय ये स्थिति जो मैं सुना रहा हूं ये आंशिक रूप में मिले किसी में ये तो विषय प्रमुख रूप है इसी में मिले बड़ा कठिन है असंभव नहीं कहते कितने लोगों में एक व्यक्ति मिल जाएगा कितने हजार लाखों की कल्पना करो या करोड़ की कल्पना कर लो आप एक व्यक्ति का मिलना कठिन फिर ये व्यक्ति सोचता है ये कुछ असंभव बात है ये ऐसा हो ही नहीं सकता ये बात है अथवा ये जो कुछ कर रहे ठीक कर रहे मैंने इधर उधर जाना ही नहीं है या इस स्थिति में आएगा मैं इन बाधाओं को दूर करना पड़ेगा ये असंभव है संभव है इसको देखना पड़ेगा निर्णय निश्चित करना पड़ेगा और ये लोग जो चल रहे हैं इस स्थिति में ये मुख्य प्रयोजन कृतकृत्यता की स्थिति में नहीं पहुंच सकते ये भी निर्णय करना पड़ेगा इनका ये प्रचलन ठीक नहीं है ये भी जानना पड़ेगा आप ऐसे करेंगे तो सारे आपके सामने विरोधी रूप में आएंगे उसका सहन करना पड़ेगा यदि वो वृद्ध रूप से आते हैं किन्हीं व्यवहारों में आप वहां पर जमे रहेंगे थोड़े से परिश्रम से ये कठिन है थोड़े से परिश्रम से नहीं कर सकते आप आपके साथ छल कपड़े झूठ का प्रयोग होगा बार बार होगा बिना कारण के आपको दुख देंगे लोग उस स्थिति में आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे उससे द्वेष नहीं करेंगे अन्याय की बातें नहीं सोचेंगे उसके प्रति ये बड़ा कठिन काम असंभव नहीं है ये सारी स्थिति आपके सामने उपस्थित है अब करना हो तो कर लो नहीं करना हो तो परिणाम आपको भोगने पर कोई और मार्ग हो इसकी सुविधाजनक ये वेद दर्शन उपनिषद और हमने जो भी अनुभव किए ऐसा मार्ग तो कहीं हाथ लगा नहीं क्या समझ में आप ये मानते हैं सोचते हैं कि ये संसार के लोग चल रहे हैं ये हमारे घरों के परिवार के लोग जैसा मानते चाहते हैं और हम वैसा जाके रहने लग जाए हमको सफलता मिल जाएगी ऐसा भी मार्ग होता हुआ कोई क्या है कोई है क्या ये भी बात कहते होंगे श्री राम और फलाना ये ये ये देखो ग्रह में छे और ग्रह में होते मोक्ष में चले गए आप जैसा मानते होंगे इसका निषेध नहीं है कि कोई विद्वान यमनियों का पालन करने वाला ज्ञान कर्म उपासना में जिसने उन्नति की वेद के अनुसार गृहित में रहा वेद के अनुसार वो चलता है और वो गृहित में रहते रहते वैराग्यवान हो सकता है और उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं समझे पर कोई ये कहने लग जाए वो घर में रहता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो गया घर से कोई संबंध नहीं तोड़ा ये बात नहीं हो सकती क्या समझ में और कोई ये कहे कि आज का जो तो ग्रहस्थ है ये वो इस है जो रामचंद्र का श्री कृष्ण जी का था ये बात बिल्कुल नहीं नितान्त नहीं विपरीत ये नापात्र की बात कही जाती है उनके नियम देखो उन गृहस्थियों के श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र को देखो उनके कैसे नियम थे कैसे रहते थे वो कई लोग कहते हैं भाइयों बहनों आजकल ये उपदेश मत करो किसी को कि ब्रह्मचारी रहो ब्रह्मचारिणी रहो बड़ा कठिन काम है इनको गृहस्थ में भेजा करो ठीक है और जो सुनते हैं लड़की लड़के युवा अवस्था वाले से हमारे एक बात बोल रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं आप ये मानते हैं क्योंकि ब्रह्मचारी का नीचे बिगड़ जाते ठीक है या नहीं हाँ ये जो व्यक्ति है श्रीवत प्रिय नेता बनना चाहता है ये ऐसी बातें करता आप ये बताओ मुझे अनुचित ग्रह समझ आना अनुचित को प्रेरणा देकर ग्रह में भेजना ये कौन सी अच्छी बात है बताओ कौन सी अच्छी बात है और भी अच्छी बात है तो आज का जो गृहस्थ है नीचे से लेके राष्ट्रपति तक चले जाइए आप एक आध व्यक्ति को छोड़ दो सौ में हजार में इनमें एक भी व्यक्ति चरित्रवान अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा अब ऐसे ग्रह बन बना के क्या करोगे नीचे से लेके ऊपर तक अन्याय अन्याय का बोलबाला अन्याय ही आधार बना रखा न्याय नाम की चीज को कुचला जा रहा है ऐसे बना के करो भी क्या ये तो बताओ इनको ब्रह्मचारी रहना सिखा के प्रतिज्ञा करके कुछ न कुछ दिन में बहुत अच्छे बन जाएंगे या नहीं आदर्श भी बन जाएंगे कुछ देना ही रहेंगे आदर्श नहीं बनेंगे और कुछ लुटे भी जाएंगे <laughs> अब इसमें क्या आपत्ति है ये बताओ नहीं समझा तीन विभाग बनेंगे तो देखो अब एक स्थूल व्यवहार की बात सुनाएंगे कुछ समय आगे बढ़ रहा है याद रखना कि जहां सूक्ष्म व्यवहारों की बातें हैं अब मोटे व्यवहार की बातें भी सीख रहे आप ध्यान हैं तो आज जो स्थिति है उसको नहीं जानते अच्छी तरह जान लेना चाहिए आज कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है है या नहीं ऐसा तो आपका अनुभव नहीं हो सकता है आप ऐसे विचारने लग जाए यदि हमको कौन क्या कहता है हम तो धार्मिक हैं हम किसी से बैर नहीं रखते तो वो हमसे बैर नहीं रखेगा क्या सोचते हो ऐसा होगा क्या इस संबंध में भी जानना चाहिए आज की जो स्थिति है आप यहाँ रहते हैं अपनी रक्षा की बात नहीं सोचते अपनी रक्षा के साधन नहीं जुटाते उससे सावधान नहीं रहते तो याद रखना कभी भी छोटी घटना से आपको गाजर मूल की तरह काट जाएगा आज की जो स्थिति मोटी सी बात एक बहुत बलवान आक्रमणकारी होता है जो हमारे बस की बात ही नहीं वो हमारे बस की बात नहीं हम उसको रोक नहीं सकते जहां तक व्यक्ति रोक सकता है आपत्तियों से बच सकता है वहां तक तो उसका धर्म आया नहीं है मान चार व्यक्ति लाठी वाले आ जाए यहाँ रात्रि में और आपकी पिटाई करने लगे और आप दस दिन वहां पिटते रहे ये क्या अच्छी बात है क्या देखिए खूब पिटाई करें हाथ पैर तोड़ देने और जो कुछ है रुपया पैसा वो सारा दे जाए एक स्थिति में दूसरी स्थिति में चार व्यक्ति आते हैं आप भी दस हैं ठीक आपने भी तैयारी की है अपनी रक्षा के साधन जानते हैं लाठी आपके पास में है और साधन भी है संगठित है आपको रक्षा करनी आती है वो चार पेट किए जाते हैं एक ही स्थिति क्या समझ आया न्याय समझ आपको लाठी सीख चलानी आती है या सीख ली आपने है हाँ जी एक दो को आती है दोनों को तो नहीं आती है, है? आपने सुना है कच्छा बने एक आक्रमण करता कच्छे वाला करता वही भाव माना जाता था सुरेश जी के भयंकर दुर्घटना इतनी भयंकर और वो क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं ऐसे लोग एक रखते हैं कोई जी नहीं रखते हाँ क्या बोलते हैं पता नहीं ऐसे रेडार क्या बोलते हैं रॉड बोलते हैं रॉड बोलते हैं क्या अरे से रखते हैं और बड़े बाहर से कुछ दिखाई देते आक्रमण करते मारते हैं फिर छोड़ के व्यक्ति को मार खत्म करते हैं और उसे जो कुछ ले जाते घटा देते अब वो व्यक्ति घरवाने से चीज सिखाई होती उनके पास कुछ तलवार भाला आदि होता आए तो ऐसा करना ये होता दरवाजे खुले मत करो ये होता तो वो आक्रमण कर नहीं सकते करते तो वो मर के जाते या कटते उनको ही काट डालते वहां पर वो या फिर रक्षा अच्छा तो कर लेते कम से कम अब ये सब जगह ना सिखाया जाता ना कोई बताया जाता ऐसे ऐसे बैठे भेड़ बकरियों की तरह तो बताओ क्या करोगे आप यहाँ कई बार आपका तो मुझे पता नहीं दरवाजे खुले हैं बाहर भी से कोई आए जाए भाई ठीक है सो रहे आपको पता तो नहीं है एक तो चोर डाकू होते हैं पहले एक आतंकवादी होते हैं एक संप्रदाय के लोग होते हैं जवाब जी मिश्रे जी क्या देख रहे हो क्या सुने आप इनमें से कोई कोई चाहे जो बाकी यहां खड़ा हो सकता ये पहले से दिमाग बना दें ऐसे होने पर क्या करेंगे कैसे बचेंगे पहले तो से तैयार हो तो रक्षा होने की संभावना क्षेत्र है इसका अति प्रबल व्यक्ति हो बहुत अधिक हो अब तक तो वो हमारे बस की बात नहीं है पर जहां तक व्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता है वहां तक तो कर पाएगा वो आप को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं को जहां तैयार करना है वहां पर संगठन शक्ति व्यक्ति को करनी पड़ती संगठित रहना पड़ता दूसरों के साथ मिलकर रहना पड़ता दूसरों को सेवा करने कराने की भावना कुछ परस्पर साथ रहने में हानियां उठानी पड़ती मिलकर के रहने में बहुत से कष्ट भी उठाने पड़ते तब तो संगठन बनता है और कष्ट कोई उठा नहीं सकता कष्ट उठाना चाहता नहीं तो संगठन भी नहीं बनता की भावना विविध दूसरे का उपकार करना बार बार दूसरे को अपने साथ मिला रखने के लिए सहयोग देना उसे सहयोग लेना तब सुरक्षित रहते हैं यदि हम संगठित नहीं है हमारी शक्ति नहीं है तो एक एक अलग अलग हो होकर के आप चाहे वो शारीरिक हो चाहे बौद्धिक हो धर्म के विषय में हो योग के विषय में हो किसी भी क्षेत्र में हम सफल नहीं हो पाते इसलिए संगठित रहना अपना संगठन बनाना अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ लेना ये व्यक्ति की बुद्धि उसका व्यवहार होना चाहिए अब जरा Mm-hmm. तन्नो विष्णुरुक्रम् नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक् प्रिय विद्वतगण धर्म प्रेमी सज्जनों अपने न्यास के अधिकारी महानुभाव माताओं इस समय कुछ भिन्न भिन्न योजनाओं को जिनके संबंध में हमको कुछ करना चाहिए उनको मैं उपस्थित करने का प्रयास करूं ब्रह्मचारियों के लिए जो विशेष रूप में अत्यंत आवश्यक कार्य होते हैं उनमें से एक शारीरिक उन्नति समाज के नियम ऋषि ने कहा संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक शारीरिक उन्नति पीछे आने वाले सभी कार्यों का आधार है इसलिए आयुर्वेद के आचार्यों ने इस संबंध में अपनी बात कही धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्त अपहर्तार श्रेयस्य जीवित से इस आयुर्वेद के वाक्य में बात कही गई है धर्म सत्य आचरण अर्थ धर्म के माध्यम से कमाया धन संपत्ति और उसका उपयोग उचित उपयोग काम कहलाता है और फिर मोक्ष की सिद्धि करना तीन साधन के रूप में आते हैं साध्य मोक्ष आता है इन चारों के चारों प्रयोजनों का आधार उपकरण साधन आरोग्यम स्वस्थ बलवान शरीर है धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्य मूल पर पहरदार है रोग जो है इसके विनाशक है श्रेय से जीवित से जीवन को भी समाप्त कर देते हैं रोग और मोक्ष जो प्राप्त करना था उस सारे के सारे के उसको भी रोग समाप्त कर देते हैं और कहीं ध्यान तो नहीं आप लोगों का क्या सुनाया आ गया समझ में क्या नहीं आया ये बात और इसके लिए व्यक्ति को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको बलवान बनाने के लिए अनेक साधन हैं उनमें से एक व्यायाम यदि उचित व्यायाम किया जाता है तो शरीर स्वस्थ बलवान रहेगा नहीं तो कभी भी नहीं होता स्वस्थ बलवान शरीर कभी भी नहीं होगा व्यायाम के संबंध में बुद्धिपूर्वक कितना किया जाए जैसा भोजन हो उसकी मात्रा वैसी हो ऋतु को देख के किया जाता है अपनी थकान को अनुभव को लेके किया जाता है ऐसे अनेक उसमें कारण रहते हैं जिसे व्यायाम बुद्धिपूर्वक किया जाता है यदि मात्रा से अधिक होगा भोजन से अधिक होगा तो हानिकारक सिद्ध हो जाएगा कभी कभी व्यक्ति व्यायाम बढ़ाते बढ़ाते सीमा नहीं रख पाता और वो इतना व्यायाम करता है कि जो उसके शरीर से शक्ति से अधिक होता है इसलिए आयुर्वेद के आचार्य ने ये भी तो देखना अपने बल के अनुरूप व्यायाम करना चाहिए बल को देखते हुए अपने ब्रह्मचारी सत्यवीर जी थे वो व्यायाम बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते पता नहीं तीन हजार पर चले गए थे या चार पर इतना बढ़ाते बढ़ाते चले गए आगे चल के वो प्रतिकूल दिखाई दिया तो उनको रुकना पड़ा कालांतर में उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा और जो दूसरे पक्ष में व्यायाम करना ही नहीं साधारण सा कर लिया वैसे ठीक इसे कुछ नहीं होता ये तो अत्यंत वृद्ध लोगों का हो सकता है वो इधर उधर थोड़ी क्रिया कर दी थोड़ा व्यायाम कर आसन कर दिए इधर उधर घूम लिए वृद्ध जो और कर नहीं सकते शरीर को स्वस्थ बलवान बनाने के लिए इतना व्यायाम करना पड़ता है भोजन और ऋतु को देख के व्यक्ति को पसीनम पसीना होना पड़ता है बड़ी थकान आती है बड़ा शरीर दुखता है पहले पहले और जो ऐसे नहीं करते वो शरीर को स्वस्थ और बलवान नहीं बना पाते आपकी स्थिति ऐसी रहेगी ये भी ध्यान में देखा मैंने हमें हमारे काल में तो जिसको कई उचित समय उचित साधन उचित भोजन ही नहीं मिला प्राय इतने लंबे काल से फिर भी जितना कुछ हमको मिला और उसमें जो व्यायाम किया जाता था और शारीरिक परिश्रम कितना किया जाता था इतने मोटे मोटे घण होते थे इतनी लंबी छीणियां होती थी उनसे कितने मनो लक्कड़ फाड़ते थे एक आयुर्वेद की औषधि कूटते थे इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लोहे की खरल इतना उसका घुमाने वाला कूटने वाला वो उसमें घंटे घंटे उसको कूटते थे एक ये तो अलग विभाग है और जो कुछ हमको मिलता था व्यायाम करते थे खूब व्यायाम करते थे जिसमें भी स्थिति होती थी और फिर हार जीत की दृष्टि से नहीं हराना है ये नहीं कि दिमाग में रखते नहीं व्यायाम करना है इसलिए ब्रह्मचारियों को आपस में कुश्ती करते थे उसको कुश्ती के माध्यम से भी आया हूं दौड़ के माध्यम से भी आया हूं इतना इतना परिश्रम करते रहे उसमें एक बात तो है कि उसके इतने करते करते करते करते और शरीर के अंदर दृढ़ता आई स्थिरता आई और ये सत्तावन वर्ष तक मैंने अच्छा व्यायाम में करता रहा सत्तावन वर्ष अब तो तेहत्तरवा वर्ष चल जाए और उसमें कुछ वायु का रोग उभर गया जैसे वो टकरा गया व्यायाम से तो उस समय व्यायाम को बंद करना पड़ा और उसके लिए भोजन भी पौष्टिक नहीं कर सकते यदि व्यायाम नहीं करें तो इसलिए फिर उसके कारण से नहीं तो वो जो नबाधक होता इस रूप में तो अब तक मैं पर्याप्त व्यायाम करता रहता परंतु उसमें ये देखा इतना आक्रमण दो बार रोग का जो हुआ इतना लंबा चौड़ा यदि व्यायाम से शरीर न बनाया होता तो शायद जीवित भी न रहता यदि व्यायाम से शरीर न बनाया होता पहले तो शरीर टक नहीं सकता था इतने लंबे आक्रमण दो बार हुए रोग के और अब भी मान के चले थोड़ी देर के लिए अब यदि के व्यायाम न हो तो मैं थोड़े ही काल में अच्छा व्यायाम करके शरीर को बहुत अब भी अच्छा बना सकता हूं क्योंकि पहले जो शरीर को बना लेता है एक सीमा तक पहुंचा देता है यदि बाधा भी जमा आ जाए तो दोबारा वहां ले जाने में बहुत सरलता होती है क्या समझ में आया नियाज होगी आगे और एक बार आशीष जी मेरे साथ रहते ना कई बार तो मैंने यही चर्चा चला रखी थी चलते चलते एक चर्चा आई मैंने कहा इस विषय में मैंने प्रयास किया आपने इतना अच्छा व्यायाम नहीं किया आपका शरीर अच्छा नहीं बन रहा तो उन्होंने कहा नहीं मेरे बहुत अधिक बल है और ये कमजोर ऐसा नहीं अच्छा मैंने कहा कि आप मेरे साथ थोड़ी कुश्ती करके देखो से तीन किलोमीटर दूरी के लगभग है और उस गुरुकुल में पहले जैसे आर्स पाठ की कुछ चली गुरुकुल कामिड़ी की चली हमने प्रयास किया कि आर्स पाठ के लिए आए फिर कालांतर में यद्यपि ऐसी स्थिति हमने उनको बार बार सुनाई थी कि आप हमको गुरुकुल सौंप दो आप इसका प्रबंध करते रहना और और पठन पाठन का हम कार्य करेंगे उन्होंने सौंपा नहीं बहुत समय लग गया यदि वो सौंप देते तो ये स्थिति जो अपनी यहां आई है ना ये अपने आयुर्वेद विकास में जो हमने काम कार्य किया है वो वहां होता कहते वो सारी गतिविधि सारी शक्ति हमारी दोनों की वहां लग जाती और उन्होंने दिया नहीं बार बार प्रयास किया हमको सौंपो पठन पाठन का काम हम करें गुरुकुल आपका रहेगा परिणाम धीरे धीरे लंबी कथा है एक को उन्होंने दिया दूसरा आदि आदि अब वो सारी संपत्ति परिवर्तित होकर नाम गुरुकुल सिंह खुला है बड़ी लंबी भूमि है भवन है आदि आदि वो हरियाणा सरकार की जो पाठविधि है उसके अनुसार स्कूल का रूप बना दिया परिणाम इतनी लंबी संपत्ति का ये हो गया तो वहां पर एक अध्यापक थे पहले वो पहलवानी भी करते थे उसमें शायद कुछ बंद करते मोटे तगड़े और हमको वो कहते थे तो ये क्या ब्रह्मचारी है हम इनसे कितने तगड़े हैं ये क्या ब्रह्मचारी है ऐसे कहते बीच बीच में लोगों को कहते देखे क्या ब्रह्मचारी है वो कुछ तगड़े थे शरीर से मोटे भी थे पहलवानी भी की होगी उन्होंने तो करते रहते करते रहते एक दिन मैंने सोचा कि आज तो थोड़ा सा इनको बताना चाहिए मैंने कहा अच्छा अध्यापक जी आपके सीन में क्या बल है क्या है आज आप अखाड़े में आप उनमें कुश्ती करेंगे अब बात ऐसी है कि उनका तो मोटा तगड़ा शरीर था ना मैंने कहा इनके हाथ में वो फंस गया तो निकलना मुश्किल है, है? तो उस समय कुश्ती की तो थोड़े ही काल में कुश्ती करते करते उन्होंने उनको मैंने डाल दिया तो कहेंगे नहीं दूसरी बार आओ <laughs> तो दूसरी बार फिर डाल दिया क्योंकि नहीं जी आप तो तगड़े हैं आप ब्रह्मचारी हैं वो ये कहना उल्टा शुरू कर दिया उन्होंने तो ये कैसे कैसे कहां कहां पर शरीर का कैसे उपयोग होता है बहुत जगह ऐसा देखा गया शरीर का मूल्य शरीर को स्वस्थ बनवान कैसे बनाया जाता है बहुत परिश्रम करते हैं जब वो बनता है स्थायी रहता है लंबे काल तक चलता है युवावस्था जैसी स्थिति बनी रहती है ये तो एक शारीरिक मैंने बताया दूसरी बात है कि आप दिन में संस्कृत भाषण करते होंगे या नहीं करते हैं क्या नहीं है मतलब कितने बजे कितने काल तक हिंदी भाषा में बोलते हैं आप या कोई नियम नहीं कुछ समय निश्चित है और शेष काल में आप संस्कृत में बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं क्या नहीं बोलते आप हाँ जी आर्य भाषा और कुछ तो नए विद्यार्थी हैं सॉरी हाँ जिनका अभ्यास अभी है नहीं तो इसलिए वो हिंदी में भी बोलते थे कुछ पुराने हैं वो संस्कृत में बोलते हैं अच्छा उनको ये समय नहीं दिया गया कि इतने दिन तक अभ्यास कर लेंगे फिर दंड मिलना आरम्भ होगा उसको यदि ऐसा समय नहीं दिया जाए तो वो आलस्य प्रमाद से प्रवृत्ति प्रगति नहीं करती इतने समय इतना मास दिया जाता है इसमें जो कुछ आप करना चाहें कर ले फिर दंड मिलना आरंभ हो जाएगा तब तो प्रयास करेंगे नहीं तो नहीं करता व्यक्ति पराय नहीं करता ऐसा नियम बना दिया जाए कुछ समय दे दिया जाए योग्यता के अनुसार इतने काल तक आप इस विकल्प में रह सकते हैं आगे आर्य भाषा हिंदी भाषा का प्रयोग करने में दंड मिलेगा तब आप आगे बढ़ेंगे नहीं तो नहीं तो भाषा बोलने से आती है बोलते बोलते वो अपनी मातृभाषा अपने शरीर का जीवन का अंग बन जाती है बोलने में समझने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती तो बोलना ये एक है और फिर पढ़ना और पढ़ाना और उसको लिखना भी भाषा ये है और आप इस काल में ऐसी भाषा को लिखने बोलने और समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी भाषा बन जाएगी बोलने में लिखने में पढ़ाने में फिर दर्शनों के पढ़ने में उपनिषदों के पढ़ने में वेद मंत्रों का अर्थ करने में सर्वत्र ये सुविधा आपको होगी और इसका समाज में उपयोग होता है जहां जहां संस्कृत भाषण करना पड़ता है संस्कृत के माध्यम से वार्तालाप करना पड़ता है संस्कृत के विषय में किसी विद्वान से बात करनी होती है संस्कृत भाषा पढ़ानी पड़ती है ये सर्वत्र आपके लिए बहुत उपयोगी होगी इसके लिए पूरी शब्दावली वाक्यावली बना ली जाती है अं, लेखबद्ध कर लिए जाते हैं सारे व्यवहार के वाक्य और उनको देख देख के जैसे हिंदी पहले लिख ली और उसके पीछे के भाग में संस्कृत लिख ली पहले हिंदी का वाक्य लिखा ऐसे कोष भी बने हैं कि पहले हिंदी लिख ली उसके आगे संस्कृत भाषा हिंदी संस्कृत ऐसे कोष बनाते जाते आप कापी के रूप में बहुत कुछ बना सकते हैं और उससे जो उन्नति होगी प्रगति होगी वो ऐसे नहीं हो सकती साधारण चीज अब आपसे जब संस्कृत बोलना आरंभ करें या बोलना हम्म, आपको पड़ेगा तो आप कुछ शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पाएंगे ये बहुत बड़ी बाधाएं आएंगी और आपका धर्म है कर्तव्य है कि संस्कृत में गति ईश्वर देखिए आप या तो संस्कृत का पूरा वैज्ञानिक ग्रंथ मावाजी तक पढ़ो पूरा पढ़ो किसी की शक्ति हिम्मत हो तो जैसे एक स्थिति कुछ लोग वहां उतना नहीं पढ़ते तो जो ऊंचा ग्रंथ है व्याकरण का काशी का कहलाती है ये मध्य माता है तो उस तक व्यक्ति पहुंचे भाषा के ढंग से उसमें नहीं पहुंचता कोई अष्टाध्याय की प्रथमावृत्ति अच्छे प्रकार से पढ़ ले तो उसकी भी पर्याप्त गति हो जाती है ये तीन विभाग इस स्तर के अब तीनों में भी जो व्यक्ति नहीं जा पाता कम से कम स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वेदांग लिखे हैं ना कार्य और सामासिक ऐसे ऋषि में लिखे हैं ना ऋषि के द्वारा लिखे माने जाते हैं समाज का प्रकरण कारकों का प्रकरण संधि का प्रकरण ऐसे ग्रंथ लिखे ना उन्होंने इनमें गति तो होनी ही चाहिए कम से कम इन ग्रंथों कारकों का ज्ञान समाज का ज्ञान आख्यातिक पुस्तक है जो व्याकरण से ये जो है ना इनके पठन पाठन से व्यक्ति का सामान्य ज्ञान भाषा का व्याकरण का ज्ञान अच्छा हो जाता है यदि इनको नहीं पढ़ता पढ़ाता तो फिर तो बिल्कुल इसमें वो गतिहीन हो जाता है दर्शनों में उपनिषदों में वेद में गति नहीं होती यदि आप परिश्रम किया करें जैसे ये हम ग्रंथ पढ़ते हैं रचनानुवाद मरी इसका पहला दूसरा तीसरा भाग इनको भी अच्छी तरह पढ़ पढ़ा लिया जाए तो भी अच्छी गति व्याकरण के सामान्य ज्ञान में हो जाती है ये आप किया अपने न्यासी वर्ग और आपसे संबद्ध बातें थोड़ी सी सबके मन में इन बातों का यदि विचार हो तो हम कुछ उत्साह से और एक नई योजना बना के आगे बढ़ सकते अब हम गए थे आबू पर्वत पर बाबू पर्वत पर अपना जो गुरुकुल है उसमें भी गए और उसके पश्चात हम गए ब्रह्मा कुमारियों का केंद्र जो आबू पर्वत पर लंबा चौड़ा कभी आप अधिकारी गए होंगे कभी देखने या नहीं गए गए होंगे ना कुछ देखा है रूम पर या नहीं यदि कल्याण देव आई अंदर नहीं गया आपने नहीं देखा अंदर नहीं गया नहीं अंदर जाके उसको सारे को देखना उनके सारे कार्यों को देखना उनकी सारी योजनाओं को देखना अत्यंत आवश्यक है इसका इतिहास कुछ सूत्र रूप में सुनिए एक व्यक्ति थे सिंध की ओर के थे ये हैदराबाद में रहते थे साधारण व्यक्ति व्यापारी थे कोई पढ़े लिखे ऐसे विद्वान नहीं सामान्य योग्यता थी और एक घटना जैसे सुनाई की मैंने सुनी इनकी लड़की का किसी से विवाह हुआ उसने उसको छोड़ दिया इसने प्रयास किया उसने स्वीकार नहीं किया उस दुख को देख करके घटना को देख करके इन लड़कियों की विषय में उसने योजना बनाई इस आपत्ति को दूर करने की अब आप देख सकते हैं उस ऐसे साधारण व्यापारी व्यक्ति ने क्या से क्या बना दिया उसने भी क्या ऐसा बना दिया तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर इसमें आए हैं इतनी योग्यता है हमारी तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते ये व्यक्ति तो इसके मूल सिद्धांत इतने अच्छे नहीं है थोड़ा सा मैं उनका बताता हूं क्या क्या देखा बड़ा लंबा जोड़ा इतने विशाल भवन है उनके सत्संग के वो है पंद्रह सोलह ही कितने मुझे गन्ना पूरी याद नहीं है कितने उनमें एक भवन उनका जितना जो सबसे बड़ा भवन है सत्संग भवन उनके कथनानुसार उसमें एक बार बीस हजार व्यक्ति बैठ के उपदेश सुन सकते हैं हो सकता व्यक्ति हो तो पंद्रह मान के चलो कुछ घटा दो आप कल्पना करिए उन्होंने जैसे बताया एशिया में सबसे बड़ा भवन है ये ऐसा भवन अब एक व्यक्ति ने क्या करके दिखाया साधारण व्यक्ति उसका दिमाग उस ओर लग गया सारा का सारा कि इनको लड़कियों को और इसको ऐसे करना है यद्यपि उसके मन में लोकेशना हो सकती है मैं लोकेशना रहित नहीं मान रहा पर उसने जो योजना बनाई अपनी योजना बना करके ऐसे मान्यताएं खड़ी की कुछ ले ली वैदिक धर्म के ले ली कुछ मान्यताएं और कुछ अपनी मन की बना ली और मान्यताओं को बनाता बनाता वो व्यक्ति ऐसे ऐसे कितने भवन है प्रातः काल आजकल उपदेश देती है माता जी ने दिया जगह और हम गए थे वहां सात सौ छह छह कितने व्यक्ति सारे मिला के होंगे अब जबकि वर्षा काल में लोग वहां कम से कम रहते हैं वर्षा काल अब वो लोग जो सुन रहे थे अपनी अपनी लेखनी और अपनी अपनी डायरी जो भी उनकी थी और वो साधारण भाषा में माता जी बोल रही थी और हमको जीवन पवित्र बनाना चाहिए मन वचन कर्म से अच्छा आचरण करना चाहिए ऐसी ऐसी बातें उसने लिख रखी थी वो सुना रही थी अब उन्होंने इतने लोगों में बैठे कितने ध्यान से सुन रहे थे कितने तल्लीनता से सुन रहे थे प्राय एक आवाज भी नहीं आ रही थी कहीं से सुनने की कितनी सुंदर कितना विशाल भवन और कैसे सुन रहे थे किसी को ये कहने की बात ही नहीं कि आप मत बोलो अपने यहां तो लगभग यदि सौ व्यक्ति बैठ जाएं तो उसको कई जने तो रोकने में लगेंगे माताओं सुनो भाइयों सुनो फिर कहेंगे भाइयों सुनो माताओं सुनो बहुत सा समत्र इसमें निकल जाएगा बोलने वाले की रुचि नहीं रहेगी कि ये सुनना ही नहीं चाहती ये हमारी स्थिति अपने सत्संगों की है या नहीं है ऐसी है ना लगभग अब बताइए कैसे उन्नति की हमने सुनने सुनाने में ध्यान से सुनने से जो प्रभाव पड़ता है वो ऐसे भाग दौड़ हा हा हु हु और कोई कहे सुनो कोई कहे सुनो दूसरे को रोक उसमें प्रभाव कहां पड़ता उसमें श्रद्धा कहां बनती अब चलो थोड़ा सा भोजन निर्माण की कितनी पवित्रता है कितनी शुद्धि है और कितने उपकरण लगे हुए हैं वहां एक डेढ़ घंटे के अंतर्गत हजारों लोगों का भोजन बना के तैयार कर लेते हैं और भोजन ऐसा नहीं होता जैसे अपनी लगभग <laughs> यहाँ होता है यहाँ का मतलब आर्य समाज के क्षेत्र में जैसे भोजन बनते बनाते ये ऐसा नहीं इतना शुद्ध होता है और वहां फिर मां कुमार फिर मां कुमारी और गृहस्थी लोग जो गृहस्थी वहां रहते हैं स्त्री पुरुष लगे हुए हैं भोजन के लिए एक से एक शुद्धि एक एक चप्पे चप्पे पर शुद्धि एक एक निर्माण में शुद्धि पाचन में पकाने में शुद्धि उसकी कल्पना करते चले जाएंगे हमने ही जाके देखी वहां के कार्यकर्ताओं को कार्य करते हुए देखा अब ऐसे उपकरण आजकल चल पड़े उनसे वो डेढ़ घंटे में हजारों लोगों का भोजन इतना अच्छा भोजन और समरण रखना अशुद्ध खान पान जिसका ठीक नहीं आचरण जिसका ठीक नहीं अपने ही लोगों से भोजन बनवाते हैं भोजन में अशुद्धि न हो जाए मानसिक रूप में भी बाहर का व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता बाहर का व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता भोजन निर्माण में कल्पना कर खान पान की शुद्धि आवास की शुद्धि और हमको मुझे जो देखने पे ऑस्ट्रेलिया की शुद्धि मिली थी इनके यहां आंतरिक मैंने जाके देखा लगभग वैसी स्थितियां वहां लगभग मिल रही थी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में जैसी शुद्धियां देखी गई थी ये तो वैसा ही वातावरण बना रखा इन्होंने कितना मन प्रसन्न होता होगा सुन की सड़कें वो देखो इतनी लंबी चौड़ी शुद्धि का कैसा प्रभाव अगला भाग सुन लो तुलनात्मक अध्ययन से हमें पता चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए हमारे अंदर क्या कमी आ गई ये उनसे लेना चाहिए हमने देखा बातचीत और प्रेम बातचीत कैसे करते हैं वो कैसे प्रेम से बोलते हैं वो आपको समय भी कैसे प्रेम से बोलते हैं बाहर के व्यक्ति के साथ कैसे प्रेम से बोलते हैं यहां अपने यहां ये वातावरण बिल्कुल नहीं होता क्या हुआ इन्हें जिन्हें व्यक्ति प्रेम से बोलते हो प्रेम से व्यक्ति को बुलाते हो प्रेम से उसको ठहराते हो प्रेम से उसकी सारी बातें पूछते हो प्राय इसमें अपनी जो स्थिति है तू तो मैं में झगड़े पदों के झगड़े जनसंपत्ति संपत्ति के झगड़े और वो झगड़े चलते चलते चलते चलते कार्य न्यायालय में न्यायालय में चलते चलते ऊंचे से ऊंचे तक पर चले गए और वहां लड़ाइयां चल रही है झूठे सदस्य बना के लड़ाइयां चल रही है पद छीना जा रहा है वहां धक्का मुक्की हो रही है आश्चर्य की बात ये पोथियों में लिखा हुआ शुद्ध सिद्धांत कुछ नहीं कर सकता यदि उनका आचरण ऐसा न हो तो एक व्यक्ति थे पढ़े लिखे थे हो सकता उन्हें जैसा सुना पहले मैं आर्य समाज में जाता था आर्य समाज के भाग लेता था मैंने आर्य समाज के ग्रंथ भी पढ़े और इस प्रकार से होते होते सारी बात सुनाते रहे और भोजवाए बात करने के लिए कहते हैं कि समझने समझाने में प्रेम से बोलने में जो जैसी चीज होनी चाहिए वो हमने देखी आर्य समाज में नहीं मिलती और आर्य समाज में तो ऐसा खंडन करते हैं जैसे छुरी मार रहे हो ऐसे काटते हुए चलते भाई खंडन करने का भी एक ढंग है बोलने का एक ढंग है उन्होंने कहा वो ऐसे नहीं बोलते आर्य समाज में ऐसे खंडन मंडन नहीं करते खंडन मंडन कर देना चाहिए वो कहते मैं इसको नहीं कहता कहता इतना भयंकर खंडन मंडन करते कोई सुन नहीं सकता लड़ाई के सिवाय बात ही कुछ नहीं है खंडन मंडन का मतलब लड़ाई झगड़े यदि अब वो बातें उन्होंने सुनाई फिर तो उसने ये भी बात कही ये दिपी बाहर से हो सकता बाहर से कहते हो तो मैंने कहा वेदों में ईश्वर सर्वव्यापक स्वीकार किया और आपका तो ये अवतार रूप में मानते क्या ये ठीक है ये दिपि हो सकता ऊपर से कहता हो नहीं कहता ये तो वेद के आधार पर इनके आधार पर तो ये सिद्ध हो ही नहीं सकता ये अवतार लेता है ईश्वर और ए, मैंने कहा किसी ग्रंथों के आधार पर इसको सिद्ध करना चाहिए तो उन्होंने एक बात कही ये ब्रह्म कुमारियों का जो संप्रदाय है ये कोई विद्वानों का संप्रदाय ऐसा नहीं है बड़े बड़े ग्रंथों पर टिका हुआ नहीं है किन्हीं ग्रंथों पर टिका हुआ हो ये जैसे वेद है दर्शन है ऐसे कोई ग्रंथ इसके ऐसे नहीं है जिन पर ये टिक चल रहा हो विधि विधान के अनुसार ये अपने साधारण स्थिति को लेकर चलता है ये बात उसने स्वीकार की कि ऐसे ग्रंथों को मानना सिद्ध करना हाँ उन्हें पुष्टि बड़ी भारी थी वो जो प्रजापति गुरु के दादा लेखराज जब मैं अठारह वर्ष का था इतना पढ़ चुका था उसमें वो यहाँ कहा की घटना सुनाई वो आए उसका मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा ऐसा आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा उसकी बहुत प्रसन्नता कर डाली ऐसा प्रभाव ही नहीं पड़ता पता नहीं उनकी आकृति उनके व्यवहार वो प्रभाव उन्होंने दिखाया कि मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा मेरे जीवन में जो मोड़ आया उनका ए, उनके जीवन से वो मैं प्रशंसा की यद्यपि हमारे पास वो समय कम था नहीं तो मुझे और बात हम करते ऐसे अनेक ए, उनके जो अच्छे अच्छे थे ना शिक्षक होते हैं माताएं बहने और पुरुष क्योंकि वो हमसे संबद्ध करते हैं उन लोगों को कि इनको अच्छी तरह समझाया जाए इनके इनको प्रभावित किया जाए ऐसे करते हैं तो हमने भी उनसे बातचीत में बहुत कुछ बताया और उनके मान्यताओं में जो न्यूनताएं हैं वो उनके सामने रखी और अपनी हमारी मान्यताओं की पुष्टि करने का प्रयास किया जैसे सर्वव्यापक ईश्वर एक ये आत्माओं को वो मनुष्य की आत्माएं अलग विभाग इसको अलग मानते हैं पशुओं की आत्मा विभाग को अलग मानते हैं और वो ये मानते हैं कि जो आज वर्तमान काल में पशु में जीवात्मा है गधे में अगले जन्मों गधाई योनि में जाता रहेगा सदा गऊ का गऊ में ही जाता रहेगा स्त्री जो होगी वो स्त्रियां ही बनती रहेगी सदा इस विषय पर बातचीत ऐसे अनेक विषय को उठा उठा करके और उनकी जो अच्छे ऊंचे स्तर की होती हैं जो शिक्षा के रूप में आचार्य उनको हमारे समझाने के लिए उन्होंने भेजा था और उनकी बातें मैं सुनता गया और उनका मैं उस ढंग से कि हमारी मान्यता ये खंडन भी करता गया और उसकी बातें जो भी थी वो बेचारी की ऐसी होती गई जैसे कि वो कुछ निराश हताश हो रही हूं छुटकारा पाती पाना चाहती हूं दुखी जैसे हो रही हूं क्योंकि इसकी बात खंडित होती जाती थी बीच बीच में वो जो बात कहती थी मैं उसको अपने ढंग से खंडन करके कहते हैं वेदों में ऐसा है हम तो ऐसा मानते हैं आप ऐसा मानते हैं आप एक जगह बैठा परमात्मा को सर्वज्ञ मानते हैं हम कहते एक जगह बैठा हुआ सर्वज्ञ कैसे हो सकता है तो कहने लगे तो परमात्मा है परमात्मा होने से सर्वज्ञ हो सकता है हमारी जगह थोड़ा ही है क्यों जी बताओ आप क्या सोचोगे क्या उत्तर दोगे आप आप इसको सोचते नहीं होंगे कभी हो सकता है कुछ सोचते हो आप हमें जिन समय ये बात कही ये परमात्मा हमारे अंतर ही तो ये है वो तो परमात्मा है उसके एक जगह बैठ के सारी बात जानने को करना ही जीव को करना ही है आप मुझे किससे पूछो मैं तो ठीक बात है या नहीं मुझे बताओ हाँ जी क्यों क्यों ठीक नहीं है आप लोग कैसे रोकेंगे इस बात से क्योंकि ने झट पुष्टि कर दी अपनी जो बताओ आप कुछ बोलोगे सुनेंगे या नहीं वो तो बड़ा प्रचार करती है आप जैसी और आप यहां बैठी रहे थोड़ा मुंह ढक लेती हो या फिर चुपचाप बैठी ना बोलना आता ना सीखना कुछ नहीं कर रही है ध्यान दो यहां आबू पर्वत पर केवल जैसा उन्होंने सुनाया ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी एक हजार हैं आज जीवन ब्रह्मचारी या कुमारी रहेंगे और सारा जीवन समर्पित है अपने यहां तो एक तो लड़का लड़की आता है तो रोने लग जाती उसके माता पिता इनका मुझे पता नहीं अब तक भी विचार बनाया नहीं बनाया इनको प्रेरणा देने के लिए विश्वेश जी को कि ब्रह्मा कुमारी को यदि देख लेंगे या अक्षरी में पड़ जाएंगी हो सकता है ये कहने के लिए तैयार हो जाए इनको ये कहीं नहीं गृहस्थ में नहीं जाना सारा जीवन इसमें लगा उनके उसको देख करके पांच हजार संस्थाएं बताई देश विदेश में बड़ा प्रभाव है वैज्ञानिकों के साथ इसका पूरा संबंध है विदेशियों के साथ बड़े बड़े आयोजन कौन सा कैनाडा में बताया इतनी बड़ी लंबी योजना बताई इतनी भूमि ले गए ले चुके हैं वो और वहां के केंद्र बन रहे ये माता जी बैठी अब तो ये बुरा नहीं मानती होंगी पहले बुरा मान लेती थी जो गुरुकुल में सिंहपुरा में रहते थे धर्मपाल जी वहां पढ़ते थे फिर यशपाल जी वहां पढ़े इन्होंने आचार्य तक करवाया उनको यशपाल जी को धर्मपाल जी को सत्यपाल जी ने भी एमए तक किया संस्कृत की अच्छी गति की इनको तीन को करवाया अर्जुन के बेटे के लिए कहते हम माता जी में एक को तो महर्षिदान जैसा बनाओ ग्रेस में मत ले जाओ एक दिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये बताओ इनकी क्या रुचि हुई धर्म क्या इनकी लगे इनकी मुझे पता नहीं ऐसी बनी या नहीं बनी आप बताओ बनी या कुछ लग या नहीं बनी है प्रयास अब तक पूरा नहीं हुआ इतना तो कह सकती हो विश्वेश जी को कि मेरी ये इच्छा है पूरे विद्वान बनो आज जीवन ब्रह्मचारी रह के मैरिदान की तरह सारा जीवन व्यतीत करो यदि आप रह सकते हो तो ये जोड़ देना साहब बीच में जोड़ देना मेरी इच्छा है आप ऐसा कह दोगी ऐसा कह दो इतना तो कह देना चाहिए कम से कम इतने कहने पर भी इन हजारों में से सौ पचास तो जरूर बन सकते हैं माताएं यदि ऐसा आशीर्वाद देती हैं माताओं के मन में ये बात हम्म, खटक रही है कि वैदिक धर्म को कहां ले जा रहे हैं हम वैदिक धर्म को कहां दबा दिया गया यदि इनके मन में यह लगन होता है शायद कह सकती है और कहने में आप सौ को कहेंगे तो कम से कम दस पांच तो तैयार हो जाएंगे कहने का बड़ा भारी अंतर है बहुत भारी अंतर है, है या नहीं आप बताओ एक तो ईश्वर पर ना दो और एक ईश्वर पर ना दो हम ये नहीं मानते हम ये नहीं कहते बलपूर्वक किसी को ऐसी प्रेरणा दो बलपूर्वक उनको बहका दो बलपूर्वक भावुकता में ब्रह्मचारी बनाओ हम ऐसा नहीं कहना चाहते बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक यदि वह ऐसा कर सकते हैं तो उनको प्रेरणा दो अब तो समझ गया भ्रांति तो नहीं रहेगी किसी को ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि अयोग्य व्यक्ति बहुत कम योग्यता वाले व्यक्ति को हम ये कहें आज आजीवन जारी रहने का प्रयास करो आजीवन जारी की प्रतिज्ञा लो छोटी अवस्था में उनको प्रेरणा देकर ऐसा हम नहीं करते नहीं मानते पर जो रह सकता है उसको अवस्था तो बता देनी चाहिए दोनों कि इसमें ये कठिनाइयां इसमें ये कठिनाइयां हैं गृह इसमें क्या क्या हो सकता है इसमें क्या ये सारा विवरण दे दो उसको और अपने विचार सुना दो फिर वो चाहे तो जैसा करें हाँ जी आपको ध्यान होगा हाँ लाला जी ने कहा था धर्मपाल को हाँ और भाई इसका जितना ये है हाँ इसके नाम कर देता हाँ हाँ और ये वैसे निस्वार भाव से सेवक है हाँ हाँ वो उन्होंने कहा था आपने नहीं कहा था बात इतनी थी तो वो उन्होंने कहा था आपने नहीं कहा था अब तो आगे समझ में उनका धर्म उनके साथ है आपका धर्म आपके साथ है अग्निशम विभाग हाँ अब याद कर लो क्या आता है निकाल अब आप में ये विचार नहीं ये भावना नहीं तो आप कैसे वैदिक धर्म को फैला सकते हो वैदिक धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हो ही नहीं सकता ये इतने बड़े बड़े संप्रदाय हैं जितने धार्मिक प्रवृत्ति के चाहे वो हिंदू और चाहे आर्य हो उनको सबको लेकर अपने तो समझ लिया इन लोगों ने क्या सोच रहे हो आप आपको कड़वा लग सकता है ये व्यापार की बुद्धि को हटा दो व्यापार हो चुका आपके घर में अब भी आप व्यापार में लगे हुए इतने बड़े बड़े अवस्था होगी पचास की साठ की होगी और अब भी व्यापार के पीछे व्यापार व्यापार के पीछे व्यापार भाई ये व्यापार क्या करेगा ये धन संपत्ति राजनीति तो उनके हाथ में चली जाएगी सारी की सारी व्यापार के पीछे पड़े रहेगा हो गया आपका काम बच्चों को पढ़ा दिया लिखा दिया अब सारा जीवन आर्य समाज के लिए लगाओ संस्था में संचालन करो अपने यहां कितने लोग रहते हैं कितना यहां समय देते हैं आप ध्यान देना बैंक में काम करने वाले गृहस्थी लोग अपना बैंक का काम करते हैं और दिन में इतने घंटे वहां पर निःशुल्क सेवा करते हैं हजारों की संख्या में देख सकते हैं आप स्त्री पुरुषों को गृहस्थ अब जो व्यक्ति बड़ी अवस्था वाले वहां जाते हैं और वहां उनको ऐसा वातावरण देते हैं वो ऐसा प्यार करते हैं ऐसी बातें सुनाते हैं वो सारे के सारे गृहस्थी इन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं बहुत बड़ी अवस्था के साथ पैंसठ की हो सकती है पढ़े लिखे हैं और ये महेंद्रगढ़ जिले के हरियाणा के हैं उनके पिताजी की बात सुनाई बड़े श्रद्धालु और बाल्यावस्था से जैसे अंकुश रखा था वहां के रहने वाले वहां पले पालन पोषण हुआ वो व्यक्ति यहां बीस दिन से रह रहे हैं और कहते मैं तो जो कुछ है यही है मेरे लिए जो पाना था जो पा लिया बीस दिन से रहा है वो व्यक्ति अभी मिला हमारी समाज का कोई उसके साथ संबंध नहीं है वो काट दिया पिताजी की बातें समाप्त कर दी इतनी प्रशिक्षण आर्य समाज का बेकार हो गया ये अपने लोग ऐसा नहीं सोचते अब यदि ऐसा नहीं विचारते नहीं मानते तो समझ लेना ये जितना धर्म की रूपरेखा जो हमारे सामने ऋषि ने बताई ग्रंथों में है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी आगे नहीं चढ़ पाएगी इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा इसके जो ऊपर ग्रंथ लिखे जा सकते थे वो नहीं लिखे जा सकेंगे इतना ही नहीं जितने हमारे पास जुड़े हुए लोग होते हैं चाहे हिंदू नाम से हों चाहे आर्य नाम से इनको ये मत मतांतर वाले सबको समेट लेंगे आप आसाराम बापूवादी कितनी उपस्थिति होती है देखी हो कभी एक एक सत्संग में नारायण स्वामी की कितनी उपस्थिति होती है आचार्य जी ने सुना था कितनी उपस्थिति थी वहां पर कैसी उपस्थिति होती है और उनके आय के साधन कितने करोड़ों के होते हैं साठ साठ कितने करोड़ रुपया उनका खर्च होना इतने इतने उनके दान आता है इतने इतने आप देखते जाइए ये सारे के सारे इस रूप में चलते जाएंगे ऐसे होते जाएंगे तो हमारी गतिविधि क्या होगी ये विचार करने की बात है इसके ऊपर पूरा विचार करना चाहिए और कम से कम अपने जीवन में अपनी शक्ति जो आज है आपके पास वो इन कामों के लिए लगा देनी चाहिए कम से कम इतना तो कर सकता दूसरा व्यक्ति आता है तो बुलाओ नहीं आता तो अपनी शक्ति को लगाओ ऐसे सोचने का जो आप करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा ब्रह्मचारियों को इसके विषय में मैंने पहले बहुत बताया कि आज आप जिस स्थिति में हैं और वो जिस स्थिति में हैं आपको क्या क्या करना चाहिए इनको मैंने बताया था जब हम वहां से देख के आए थे क्या क्या आपको करना चाहिए किस रूप में करना चाहिए और आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो परंपरा वेदों की परंपरा जो आई है बड़ी कठिनाई से इसको जीवित किया है उभारा है ये सारी लुप्त हो जाएगी नीचे से लेकर ऊपर तक आप देख सकते ये शक्ति हमारी जो रही वो बढ़ गई झगड़ों में वो बढ़ गई पदों की लड़ाइयों में वो रह गई अपने परिवार के पालन पोषण में ये स्थिति आप देख लेना अपने परिवारों के पालन पोषण में रह गई ये बेटे पोते का पालन पोषण चल रहा कोई ध्यान नहीं दे रहा आगे शक्ति बची जिसने भाग लिया वो लड़ाई झगड़े में बढ़ गया न उसकी सेवा भाव उसका समाप्त हो गया न उसके पास में विद्या किसी प्रकार की है और उसमें ऐसा व्यवहार करके दिखा दिया जिससे कि हमारे सत्संग में आने वाले लोगों को भी कुप्रभाव पड़ रहा है लगातार वो भी हताश निराश की स्थिति में लगभग उसको देख करके और कुछ लोग तो उसको छोड़ के ही दूर हो जाते हैं इसलिए ये जो भयंकर दोष आए हैं इनको दूर करना चाहिए और अपना पन मन धन इन कार्यों में लगाना चाहिए हमारा धर्म है ये ईश्वर की आज्ञा है कोई कल्पना नहीं है तो इस रूप में इसमें आप जोर देंगे ब्रह्मचारियों को मैंने इनके ढंग से बताया था कि क्या क्या ये कर सकते हैं एक संकेत दिया था भला एक साधारण व्यक्ति व्यापारी व्यक्ति इतना विशाल कार्य करता इतने लोगों को अपने साथ जोड़ लेता तो आप एक ब्रह्मचारी अच्छी योग्यता रखने वाला क्यों नहीं कर सकता है वो क्यों नहीं कर सकता है यदि उसकी योजना ऐसी है अपनी योग्यता वो बनाता है तो सभी ऐसा गृहस्थ लोग हैं अपने स्तर पर क्यों नहीं कर सकते ऐसा कार्य ये बाण आश्रम की योजना इसी ढंग से तो बनाई गई है बानप्रस्थ को बना के गृहस्थी लोगों को इसमें ले और उसको पढ़ाएं लिखाएं जैसे वहां तैयार हो रहे हैं गृहस्थी लोग यहां गृहस्थी लोग इसमें तैयार हों ऐसी योजनाएं प्रत्येक प्रांत में आश्रम की बना बानप्रस्थ की बन जानी चाहिए एक आश्रम अच्छा है जिसमें कुछ आवास का प्रबंध प्रवचन उपदेश सबसे का चलता है ये बानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर है ये देखिए अपने ढंग से जो करते हैं जो चलता है वो आर्य समाज का कार्य हो रहा है और ऐसे ही प्रत्येक प्रांत में एक एक दो दो आश्रम बनाया जाए और एक एक दो आश्रम में उनमें जैसे ये तैयार करते हैं ऐसे हम भी गृहस्थियों को तैयार कर सकते हैं और इससे हजारों की बात छोड़ो जी ऊंचे स्तर तक है तो लाखों लोग तैयार हो सकते हैं उनको पांच वर्ष चार वर्ष शिक्षा दे दो बस कई तो दो तीन वर्ष में तैयार हो जाएंगे पर आश्रम बना बना के महर्षि के ग्रंथों को पढ़ाओ चित्ता प्रकाश आदि अच्छी योग्यता फिर संस्कृत भाषा सामान्य सिखा दो उनको बोलना लिखना आदि और उनको योगाभ्यास का प्रशिक्षण दे दो यम नियम का प्रशिक्षण दे दो और उनको सेवा भाव उनमें भर दो तो वो देश विदेश में ये लोग आधुनिक ढंग से पढ़े लिखे यहां जो अधिक पठित वर्ग है ना जो आधुनिक ढंग से पढ़ा पठित वर्ग बहुत अधिक है यहां आधुनिक ये इंजीनियर और आदि प्रोफेसर रहा ये रहा वो रहा या पठित वर्ग ऐसा आधुनिक ढंग से पढ़ा हुआ वो विदेश से संपर्क कैसे करते हैं इंग्लिश भाषा के माध्यम से क्या करते कराते हैं वो सारा चलता है इसलिए आप इस आश्रम की रूपरेखा को भी यदि तैयार करते हैं इसमें समय लगाते हैं तो एक माध्यम ये आप जैसे गृहस्थियों के निर्माण का बन सकता है आपको समझ रहे कि अपने यहां के ब्रह्मचारी मुझे याद है घातक चार है रविंद्र जी जो यहां पर महावासी पढ़ के गए व्याकरण महावासी सत्यजीत जी दर्शनाचार्य सत्येंद्र जी दर्शनाचार्य विष्णु जी दर्शनाचार्य चार ही होंगे ना सर ऐसे ना अजमेर में ऋषि उद्यान है ऋषि उद्यान में इन्होंने वहां पर जाके कईयों ने महावासियों को पढ़ा शीघ्र शीघ्र पढ़ा कईयों ने और उन्होंने रविंद्र जी ने पढ़ाया और कुछ बड़े ब्रह्मचारी वहां पर अब भी हैं और वहां पर एक योजना बनाई गई है छोटे बालक जो आठ वर्ष से लेके बारह वर्ष के छोटी अवस्था से ही उनको महर्षि की पाठ विधि के अनुसार आदर्श विद्वान बनाया गया ये योजना आरंभ हो चुकी है विद्यालय आरंभ हो चुका है अब वहां नौ थे परीक्षा भी करते हैं उनकी परिश्रम जो ठीक उसके होता उसको ले लेते हैं नहीं तो उसको घर भेज देते हैं यद्यपि अब अपने इस विद्यालय में कुछ गुजरात के विद्यार्थी आए होंगे पहले तो कोई आया होगा तो चला गया होगा एक विश्वेश जी गुजरात के कहें या महाराष्ट्र के कहें कहां के कहोगे आप है जी क्यों गुजरात के हैं या महाराष्ट्र के आए तब तो महाराष्ट्र के हैं आए तब तो महाराष्ट्र के हाँ जब आए तभी तो महाराष्ट्र के जन्म जन्म गुजरात इनका मुंबई महाराष्ट्र जन्म महाराष्ट्र का तो अभी इसी प्रकार से कोई ये नहीं तो जैसे पांच दर्शन तक पहुंच गए होंगे लगभग ऐसा गुजरात का तो या महाराष्ट्र का कहो तो <laughs> एक व्यक्ति अब कई युवक इनमें से सात गुजरात के कौन कौन है जन्मस्थानी इनका गुजरात है एक दो तीन चार अब कम से कम इतने तो आए गुजरात से इतना बड़ा प्रांत है ये बड़े प्रांत माना जाता है जनसंख्या इसकी कितनी है क्षेत्र भी बड़ा है अब गुजरात से ये अब कुछ प्रभाव पड़ा होगा इस संस्था का पड़ा होगा अपनी का जब तो ये युवक आने लगे यानी तो न प्रयास करो तो कुछ नहीं है तो वो आदर्श रूप में बनाने का प्रयास रहा है छोटी अवस्था देकर उनको उच्च कोटि के विद्वान तैयार करना एक बहुत बड़ा कार्य है अब वर्तमान में परोपकारिणी सभा जो है वो सारा खर्चा उनका वो देती स्थान का प्रबंध उसने किया बहुत अच्छे कमरे व्यवस्था और एक विशाल भवन और बनाया जा रहा है और उन्होंने इस कार्य को अपने ऊपर लिया खर्चा वो करते अब यदि ऐसे ऐसे गुरुकुल और बाल प्रस्तावों को बनाते चले जाएं कन्या गुरुकुल अलग हों तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बाहर की बेकार की बातों को हटा के अपनी शक्ति इस कार्य में लगाएं तो ये आपके परिचय के लिए मैंने बतलाया तो आप विशेष ध्यान देंगे और लोगों को प्रेरणा करेंगे इस विषय में कि धर्म के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों ने कितना प्रयास किया है और कितने उनके लोग आज निर्माण हो गया इन्होंने ये भी बताया ब्रह्मा कुमारी वालों ने कि हमारे आजीवन कुमारे कहिए ब्रह्मचारी कहिए इस वाद विवाद में हम नहीं जाते आजीवन कुमारे आजीवन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहने वाले जो प्रतिज्ञा करके चलते हैं लगभग बीस हजार ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी लगे हुए अब जब इस पर इतने लोग लगे हुए और उनमें बारह कक्षा उत्तीर्ण की लगभग एक व्यक्ति ने बताई योग्यता मानी जाती है कम से कम इतने को लेना प्राय प्रवेश करते युगों को लेते अब अपने यहां इसकी तुलना में कितना कार्य हुआ एक संस्था को मैंने सुनाया दूसरी सुनाओ तो आप नारायण स्वामी के कितने बताए थे आचार्य जी ने बताए थे कितने कितने हजार उनके वो ब्रह्मचारी हैं इस प्रकार से एक एक को देखते चले जाओ तो इसलिए इनको ध्यान से देखो और आप ब्रह्मचारी अपने ढंग से अपनी बुद्धि से अपनी स्थिति योग्यता को बनाए गृहस्थ से अपने ढंग से अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार तैयार करें और इस रूप में हम करेंगे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं और इस कार्य में जैसे घर का काम करते हैं ना आप लोग ऐसा मान के चलना चाहिए परिवार को संभालते आप बच्चों को पढ़ाते लिखाते ऐसी विचारधारा से काम चलता है शरीर पर एडी से लेकर चोटी तक विचार में हाव भाव भरे जा रहे हैं उनमें अपना अंग बना लिया है सारे के सारे इन लोगों को उन्होंने अपने परिवार बना के रख रखे उनको ऐसे अब कैसे उनके पास में नहीं जाएंगे लोग अच्छा अनेक बातें अपनी वेदों की और दर्शनों की है उनकी जैसे खान पान की शुद्धि कितनी अच्छी है धूम्रपान आदि का निषेध वर्जित आदि शुद्ध भोजन बनाने की बात फिर कर्म एडी से छोटी से कर्म करो अलग अलग सेवाएं लगी हुई निष्काम भावना प्रेम से रहना चिकित्सा का कितना लंबा चौड़ा प्रबंध है उनका अब ये सारी के सारी वैदिक बातें हैं पर उनकी जो मान्यताएं हैं ना मूल जिसमें वो सारी बातें अच्छी बातें भी ऐसा मोड़ खाती है जिसे मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता जैसे ईश्वर परम धाम में रहता है और वो एक ब्रह्मा नाम का व्यक्ति पैदा करता है उसमा के अवतरित होता है उसमें आकर के वो उपदेश देता है लोगों को और उसके अनुसार सारी की सारी है गतिविधियां चलती युग के अंदर एक बार या कितना है उनका एक युग में एक बार है कैसा है अवतरित होता है अब इस प्रकार की जो मान्यताएं जो हैं जब व्यक्ति मान लेता है तो वेदों से उसका संबंध कुछ नहीं हो सकता दर्शन विद्या से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता वैदिक धर्म की रूपरेखा को मान के वो चल नहीं सकता इसलिए सारी धन संपत्ति वो सारी की सारी इनको वहां ले जाएगी जहां व्यक्ति की हानि ही हानि हो ये कुछ सिद्धांत मान्यताएं उनकी वेद विरुद्ध होने से इसलिए हम ये समझते हैं यदि इनकी कुछ मान्यताएं बीच से निकाल दी जाए ये जो कुछ अवतार की एक शरीर में आना ब्रह्मधाम में रहना परम धाम बनेगा तो परिणाम ये होता है कि सारे के सारे वैदिक धर्मी बन सकते यदि किसी में शक्ति हो यदि हमारे अंदर अनेक लोग हों गृहस्थी हों और सन्यासी भी क्यों न हो और धीरे धीरे इनके साथ संबद्ध हो जाए आप मेरी बात समझ रहे अपनी बात करते रहे इनके साथ बातचीत रखें इनके साथ फिर प्रेम से रहें और इनकी अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार कर ले हमें कोई बाधा नहीं होगी तो यदि इतना बड़ा लंबा जोड़ा आयोजन कर दे तो इनका दिमाग बदला जा सकता बुद्धिजीवी वर्ग होता है इसके ऊपर बुद्धिजीवी वर्ग को बदल दो बुद्धिजीवी वर्ग परिवर्तन आ जाएगा सेवा करने वाले का दिमाग को बदल दो सेवा भाव में जो लगे हुए हैं तो परिवर्तन आ जाएगा अर्थात आचरण आचरण ऐसा बना लो आचरण ऐसा बना के दिखा दो तो सेवा करने वाले बदल जाएंगे बौद्धिक स्तर पर जो योजना बनाते हैं लेखबद्ध करते हैं साहित्य प्रकाशन करते हैं उनको बदल दो तो ये बदल जाएगी ऐसी योजना बनाए तो हम बहुत कुछ मैंने कहा आप यदि खुले रूप से हमारा प्रवचन सुनना चाहते हो और आपका आयोजन होता हो तो हम भी भाग ले सकते हैं जैसा उन्होंने कहा कि हाँ, हम ऐसा करते हैं और ऐसा चाहते हैं अपने विचार कोई व्यक्ति आके सुनाए तो हम सुन सकते हैं तो यदि ऐसा वो करेंगे तो हम जाने का प्रयास करेंगे उनके सत्संग चलते ना संप्रदायों को बुलाते हैं ये शंकराचार्य को इनको खूब बुलाते हैं और उनका आयोजन में उनका भाग लेने के लिए उपस्थित करते हैं यदि हम भी वहां जाए और हम जाकर के वैदिक सिद्धांत को रखें प्रेम से ऐसा नहीं जैसा झगड़ेवाद ऐसी नहीं प्रेम से रखेंगे हम ऐसा मानते हैं आप ऐसा मानते हैं अंतर इतना है हमारे अनुभव ऐसे कई बार अनुभवों के सामने जाके रख देते वो अनुभव नहीं है तो पुस्तक की बात नहीं उत्तर इतना नहीं मेरा अनुभव भी है पुस्तक की क्यों है सीधा उत्तर देते हैं आप हमारा अनुभव भी है और तो पुस्तक की भी है फिर तो क्यों नहीं माना जाए अनुभव आपका भी है अनुभव हमारा भी है हम तो कहते ईश्वर सर्वव्यापक सर्वव्यापक दिखाई देता है तुम तो कहते हो एक शरीर माता है हम कहते नहीं हमको हमारा अनुभव है कि सर्व परमात्मा सर्वव्यापक है हमारा अनुभव तो ये हमें आपको दिखाई देता है आप कहते एक जगह इन्हें अनुभव तो की बात करो तो अनुभव की बात करने के लिए तैयार और तर्क से सिद्ध करना चाहो तो तर्क से करो इसलिए आप इसको विचार करो अपना जीवन भी बनाओ और ये अपनी संस्था इतनी लंबी चौड़ी इसके लिए आप खूब समय लगाएंगे खूब प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता पर आप घर में ही रहे आप भी बड़े होकर के भी घर वाले समय लगे उनके बेटे भी हो गए तो ये काम ऐसे होने वाले नहीं है साधारण रूप में हो रहा ये जो अपना आर्यवन विकास का कार्य है जितना आपने प्रयास किया इससे जो कार्य हुआ एक स्तर पर आर्य समाज में और विदेश तक इसका प्रभाव है ये सारे लोग प्रभावित हैं इतना ही तो किया आपने भाई छोटा सा विद्यालय बनाया उसमें आपने भोजन का प्रबंध किया और भोजन का प्रबंध किया तो हमने दूसरे भाग में किया दूसरी व्यवस्थाएं हमने की ईश्वर आपने भवन बनाया ईश्वर आपने भोजन सामान्य भोजन का कर दिया आगे घी दूध इनका वस्त्र चिकित्सा पुस्तकें जितना भी है वो हमने किया तो हमने मिलकर के ऐसा कार्य कर दिया जो वास्तव में आर्य समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में ये बातें बड़ा प्रभाव करती है कि इतने विद्वानों को तैयार किया आज पता नहीं इनकी संख्या कितनी है बड़े छोटे मिला करके बत्तीस है या कितनी उसकी सूची याद रहनी चाहिए क्या किया आर्यवन विकास ने आर्यवन विकास के लोगों ने क्या कार्य किया वो लोगों के सामने जा रहा है अब आगे कोई ढीलापन नहीं आ जाए आगे इसमें कमी नहीं पड़ जाए जैसे कि हम इस व्यवस्था में मुझे यह बात याद नहीं है न्यासियों को पता होगा ए, पहले तो दस का या कितना तेरह चौदह का या प्रबंध किया था अब आपका वही नियम है या कई बार ये प्रसंग आ रहा है और ब्रह्मचारी लिए जाए और यहाँ खर्चा कौन करेगा आप इसके ऊपर कैसा विचार आप अपना विचार ना अर्थात हम कितने ब्रह्मचारियों को रख सकते हैं जिससे कि सामान्य भोजन का ट्रस्ट परिवहन कर सके याद हो तो आप सुना सकते हैं कुछ याद है या नहीं कुछ लेखबद्ध हो कल्याण यार ये बताइए कुछ है अपना यहाँ हाँ, दस से बारह की दस से बारह पंद्रह इतना ही है ना अधिक हो जाए तो हमको सुना देना बता देना कि हम बीस का कर सकते हैं हम चालीस का कर सकते हैं आप अधिक उस ओर से बताते जाना आप जहां उस ओर से आप करेंगे तो हमको भी तो कितना खर्चा करना पड़ता है ऊपर का सामान्य भोजन तो बहुत सारा सामान्य बात है ऊपर के खर्चे को देखते हुए आप मान लो दो चार को बढ़ाएंगे तो दो चार का हमको करना पड़ेगा वो कितना होगा कितना खर्चा होगा इसको जानना चाहिए तो आप मुझे बताएंगे तो हम सोचना आरंभ करेंगे यदि वो ईश्वर से भोजन का प्रबंध होता है तो आवास है फिर सारी व्यवस्था उनकी पुस्तकें हैं उनका घी दूध है उनका चिकित्सा है उसी उसे अपनी शक्ति के अनुसार आगे हम संख्या को बढ़ा सकते हैं वो आप बताते रहना कभी आप ये नहीं सोचा हमें सूचना नहीं मिली थी कि हम और जाने को भी प्रवेश दे सकते हैं और ये आप स्वयं योजना बना लेना और हमको सूचित कर सकते हैं कि इतने ब्रह्मचारियों का हम भोजन करने में समर्थ हैं आप यहां पर तो ओसा ही हम सोचेंगे तो मैंने अनेक योजनाओं के संबंध में बातें सुनाई हैं उन संकेतों से ब्रह्मचारी भी समझ गए होंगे आप भी समझ गए होंगे उसको उसी ढंग से सोचना चाहिए और ईश्वर जी माता इन गिनी बैठी एक आध ये भी ऐसा सोचा करें ऐसी प्रेरणा दिया करें इससे अपना जीवन ऊंचा बनेगा और औरों को प्रेरणा मिलेगी और लोग तैयार होंगे अब विराम